तीन बार ओम का उच्चारण ओ जिज्ञासा समाधान में प्रश्न है अनादि का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट यानी विचार या दृष्टि कॉन्सेप्ट अंग्रेजी का शब्द है सिद्धांत अवधारण अच्छा शब्द है अवधारणा कॉन्सेप्ट यानी यानी अनादि का मतलब क्या होता है शाब्दिक रूप से तो हम कह देंगे अनादि किसे कहते हैं लेकिन वस्तु अनादि होती है ये कैसे समझ है पहले तो अनादि शब्द का अर्थ क्या है जिसका आदि न हो उसे अनादि कहते हैं न आदि अनादि आदि किसे कहते हैं आदि का मतलब है प्रारंभ ये भवन कभी बना था जब ये बना था तब से इसका प्रारंभ हुआ उससे पहले ये नहीं था वो उसका आदि है जब ये बना ऐसे कभी समाप्त भी होगा वो उसका अंत कहलाएगा तो जिसका आदि ना हो उसे अनादि कहते दूसरे शब्दों में इसे बोले जिसकी उत्पत्ति ना होती हो उसे अनादि कहते हैं जिसकी उत्पत्ति होती है वो कहलाएगा सादी स आदि आदि सहित आदि सहित कहलाएगा सादी और जिसका आदि आरंभ उत्पत्ति नहीं है वो अनादि तो हम किस किस को अनादि मानते हैं वैदिक सिद्धांत में एक तो परमात्मा को अनादि मानते हैं अर्थात परमात्मा की कभी उत्पत्ति नहीं हुई आत्मा को यानी जीवात्मा को अनादि मानते हैं उसकी भी कभी उत्पत्ति नहीं हुई और प्रकृति मूल प्रकृति उसकी भी कभी उत्पत्ति नहीं हुई तो ये तीनों चीजें तीनों पदार्थ तीनों वस्तुएं अनादि हैं इनकी कभी उत्पत्ति नहीं होती अब इन्होंने लिखा है कि ये अनादि कैसे हैं ये समझ में नहीं आता है अनादि शब्द तो समझ में आ जाएगा लेकिन किसी वस्तु को हम अनादि कैसे मान लें क्यों मान लें उसको कि अनादि है हमें किसी वस्तु को अनादि क्यों मानना चाहिए क्या आवश्यकता है हम उसको भी शादी मान सकते हैं ये भी तो एक पक्ष है इनकी भी उत्पत्ति होती है ऐसा भी मान सकते हैं हम और ऐसा मानेंगे तो क्या दोष आएगा हम क्यों ना इनकी उत्पत्ति मान लें अनादि को स्वीकार करने में अनादि वस्तुओं को स्वीकार करने में बाधा क्या आती है कि हम अपने व्यवहार में जिन वस्तुओं को देखते हैं अधिकांश वस्तुएं या तो कहो सबकी सब, सब वस्तुएं ये भी कह सकते हैं उनका प्रारंभ होता है हम किन वस्तुओं से संपर्क रखते हैं व्यवहार में हमारा संपर्क किससे होता है हमारे शरीर से होता है और शरीर उत्पन्न होता है शादी है हम खाते हैं पीते हैं जो भी अन्न दाल सब्जी फल आदि हैं दूध है ये सब उत्पन्न होते हैं शादी है घर कपड़े मिट्टी पेड़ पौधे कुछ भी बिस्तर बर्तन साबुन तेल लकड़ी नमक सब कौन सी ऐसी वस्तु है हमारे व्यवहार की जो अनादि हो जो उत्पन्न नहीं होती हर चीज तो उत्पन्न होती है कोई उदाहरण बता सकते हैं जिससे हम व्यवहार करते हैं वो उत्पन्न ना होती हो हम जितने मनुष्यों से मिलते हैं वो भी उत्पन्न होते हैं पशु पक्षी उत्पन्न होते हैं पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं वस्तुएं बनती हैं गाड़ियां बनती हैं हर चीज तो बनती है अर्थात शादी है कोई उदाहरण बताएंगे कि ये चीज अनादि है हमारे संसार में जिनसे हमने व्यवहार जिनसे हम व्यवहार करते हैं क्या कोई ऐसी चीज दिखाई देती है जो अनादि हो वायु तो नहीं शब्द प्रमाण को अभी रहने दो हम जो व्यवहार करते हैं हम जो व्यवहार करते हैं उसमें वायु है तो हम उत्पन्न हुए उससे पहले से थी लेकिन हमें थोड़ा सा समझने के बाद पता लग जाता है कि नहीं वायु भी उत्पन्न हुई है ये सृष्टि उत्पन्न हुई है ये हमें पता लग जाता है तो सृष्टि उत्पन्न हुई है तो वायु भी उत्पन्न हुई है ये हमें कुछ पता लग जाता है तो कौन सी चीज ऐसी है जो अनादि है तो उसके लिए दो आवाजें आएंगी ठीक है एक तो आई काल काल यानी समय तो समय की उत्पत्ति बता सकते हैं क्या नहीं बता सकते नहीं बता सकते नहीं हमारी अपेक्षा से मान लीजिए आज का दिन ये भी तो काल में आता है ना उत्पन्न हुआ था या नहीं हुआ था आज का दिन उत्पन्न हुआ था या नहीं हुआ था हाँ या ना बोलो दिन काल में ही आता है काल का ही विभाग है <laughs> एक खंड है वो खंड तो उत्पन्न हुआ ना जो अनेक खंडों से मिलके बना और वो खंड उत्पन्न होने वाले हैं तो उससे बनी हुई जो चीज है <laughs> मैं बात तो पूरी करूं आपको कहने को अवसर है इसमें मैं जिस ढंग से बात को रख रहा हूँ आप उसको अवश्य खंडित कर सकते हैं पर मैं एक बात रख रहा हूँ आपके सामने घंटा है भाई आठ से नौ एक घंटा वो घंटा कभी प्रारंभ हुआ ना वो खंड है और इन खंडों के मिलने से ही तो काल बना है इन खंड अगर ये खंड ना हो खंड ना हो तो काल हो सकता है क्या जैसे ईट से ईट मिलकर के भवन बन जाता है ऐसे ये खंड खंड खंड मिलकर के एक काल बनता है तो जिसका खंड भी उत्पन्न हो रहा है तो उससे जो निर्मित चीज <laughs> वो, वो क्यों नहीं होगी आपके मन में कुछ उल्टा सीधा खुलबुली भर लिए ये तो बात कुछ गलत बोल दी <laughs> काल के खंड होते हैं नहीं होते काल के खंड नहीं होते हैं तो ये क्या चीज है फिर अभी तो आपने कहा था कि ये आज का दिन है ये क्या है तो आपने कहा कि ये खंड है किसका खंड है काल का खंड है कालखंड शब्द भी बोला जाता है लोक में बीच में मेरे जीवन में ऐसा कालखंड आया या भारत के इतिहास में एक कालखंड ऐसा भी आया जिस समय हम परतंत्र थे पहले स्वतंत्र थे चक्रवर्ती राज्य था फिर हम एक कालखंड ऐसा आया तो खंड मतलब काल का खंड और खंड होता है तो फिर तो जितेंद्र जी मनुष्य निर्मित है मनुष्य निर्मित है ये सिद्ध तो ये करना चाहते हैं कि <laughs> काल उत्पन्न नहीं हुआ काल नित्य आप सिद्ध तो यही करना चाह रहे हो ना काल को उत्पन्न होने वाला सिद्ध करना चाहते हो या अनादि या आदि शादी <laughs> ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे <laughs> क्योंकि इनको लगता है कि प्रश्न का उत्तर दिया तो मैं फंस जाऊंगा वहीं पर ही मनुष्य निर्मित है इन्होंने कहा क्या मनुष्य निर्मित है क्या काल को मनुष्य ने बनाया है अगर आप ये स्वीकार करते हो कि काल को मनुष्य बनाया तो काल शादी हुआ या अनादि हुआ शादी हो जाएगा तर्क चल रहा है यदि आप उसको उत्पन्न होने वाला मान मानते हो तो उसको आप अनादि नहीं कह सकते फिर तो शादी ही कहना पड़ेगा ठीक है तो मनुष्यों ने यदि बनाया है काल को नहीं बनाया तो किसको बनाया मनुष्यों ने उसको बनाने के लिए <laughs> ठीक है काल्पनिक है तो काल तो चल रहा है तो जैसे गाड़ी चलती है ऐसे कुछ काल नाम की चीज है क्या जो चल रही है आपको जैसे पृथ्वी चल रही है गाड़ी चल रही है घड़ी चल रही है ऐसे काल चल रहा है मतलब क्या है काल क्या है काल हमारी कल्पना है तो हमारी कल्पना है तो हमने उत्पन्न किया है उसको कोई <laughs> कल, कल, कल्पना तो यानी वो तो उत्पन्न हुआ है फिर काल अनादि काल से चल रहा है अनंत काल तक चल रहा है तो तीन चीजें तो अनादि आपने मान ही ली थी ईश्वर जीव और प्रकृति अब ये चौथी भी आप मानेंगे तो आप त्रैतवादी हैं या कौन से वादी हैं आप अद्वैत तो है नहीं द्वैत भी नहीं है त्रैत से ऊपर पहुंच गए आप तो आप त्रैतवादी तो नहीं रहेंगे ये ध्यान रखना अगर आप काल को अनादि मानते हो तो आप त्रैतवादी तो नहीं है त्रैतवाद तो खंडित हो जाएगा विचार करो इस बिंदु पे हम जाने अनजाने बोल देते हैं वैसे त्रैतवाद को तो मानते हैं लेकिन साथ में काल को भी अनादि मान लेते हैं और अब दिशा की बात कर लो दिशा मतलब स्थान दिशा तो फिर भी चलो हमारी बनाई हुई है सापेक्ष है अभी ये कौन सी दिशा है जी कौन सी दिशा है मेरे सीधे हाथ की तरफ जो है वो कौन सी दिशा है उधर पूर्व है आपकी दृष्टि से पूर्व है और नवीन जी की अपने मोदी जी की दृष्टि से पश्चिम ने दक्षिण की तरफ थोड़ा बीच में दक्षिण पूर्व पूर्व पूर्व और दक्षिण के बीच में और ये जो चित्र बना हुआ है दीवार है उसकी दृष्टि से ये उत्तर या ठीक चलो भिन्न भिन्न हो रहा है ना तो दिशा का कथन तो सापेक्ष कथन हुआ इसकी वास्तविक स्थिति क्या है वास्तविक स्थिति तो कुछ है ही नहीं तो उसको हम नित्य कैसे कहें अनादि कैसे कहें तो अनादि नहीं कह सकते हम इसको इसको तो अनादि नहीं कह सकते आप स्थान को कह सकते हो दिशा स्थान स्थान जो है वो स्थान क्या चीज है कोई वस्तु है स्थान अथवा केवल कल्पना व्यवहार के लिए है जैसे कि काल भी व्यवहार के लिए है काल क्या है काल सदा से चला आ रहा है ये जब हम कथन करते हैं काल है क्या तो व्यवहार के लिए भले ही हम काल का उपयोग करते हैं लेकिन योग दर्शन व्यास भाष्य में एक बात आती है वस्तु शून्य होते हुए भी काल कोई वस्तु नहीं है लेकिन लौकिक व्यक्तियों को वो वस्तु की तरह दिखाई देता है व्यवहार में वो ऐसा दिखेगा जैसे कोई ताल कोई वस्तु है एक स्तर पर ताल को द्रव्य माना है वैशेषिक दर्शन में जहां नौ द्रव्य गिनाए तो पांच महाभूत काल दिशा आत्मा और मन ये नौ द्रव्य गिनाए हैं उसमें काल और दिशा भी है लेकिन तत्वतः काल वस्तु शून्य है व्यवहार की दृष्टि से व्यासन भाष्य व्यास भाष्य का वचन है योग दर्शन एक व्यवहार की दृष्टि से भी व्यवहार में भी व्यवहार जिसका हम करते हैं वो तो हम बदलते हैं उसको समय का निर्धारण करते हैं हम उसकी गणनाएं करते हैं इत्यादि सारा का सारा है ठीक है अपने भी बात चली थी कि दुनिया में कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका हम व्यवहार करते हैं और वो अनादियो अनादियो वस्तु के संदर्भ में बात थी अब काल और दिशा का देश का हम व्यवहार तो करते हैं उससे हमारा व्यवहार चलता है उसके बिना व्यवहार नहीं चल सकता हमारा किंतु काल और दिशा उस तरह की वस्तुएं नहीं हैं जिसके लिए हम सादी या अनादि का व्यवहार करें सादी और अनादि का व्यवहार हम काल और दिशा के लिए गौण रूप से प्रयोग करते हैं ठीक है लेकिन ये वैसी वस्तुएं नहीं है कि हम उसको अनादि तत्वों में गिने अभी सत्या सत्यात प्रकाश में एक मोटे तौर पे लिखा है वहां पर उसमें काल दिशा आकाश अवकाश आदि को भी वहां पर पहले से सदा से विद्यमान माना है लेकिन फिर भी वाद त्रैती है त्रैतवाद ही है चौथी चीज नहीं है ध्यान देना अनादि कोई चौथी चीज नहीं है आत्माएं बहुत सारी हैं प्रकृति के कारण बहुत से हैं लेकिन वैसे तीन वर्गीकरण है इसके अलावा और कोई अनादि तत्व नहीं है नहीं तो त्रैतवाद नहीं रहेगा और जो चीजें अनादि कही भी जाती हैं वो गौण रूप से कही जाती है वो वस्तु तत्व नहीं है व्यवहार की व्यवहारिक सत्ता है बस तो जितनी चीजों का हम व्यवहार करते हैं वो सारी कैसी हैं सादी हैं उत्पन्न होती हैं हमें समझ में आता है ये बनती हैं बिगड़ती हैं परिवर्तन आता है तो जब ये चीज ऐसा ही ऐसा हम व्यवहार देखते हैं तो देखते देखते हमारा दिमाग क्या बना हुआ रहता है अनादि तो कोई चीज हो ही नहीं सकती सारी चीजें तो सादी हैं अब जब ये कथन किया जाए परमात्मा अनादि है आत्मा अनादि है तो वो मस्तिष्क स्वीकार नहीं करता है क्योंकि ऐसा ही व्यवहार देखा है समझा है अनुमान किया है जब छोटे बच्चों को बताते हैं या नए नए साधकों को बताते हैं कि परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया तो कई बच्चे प्रश्न करते हैं अच्छा परमात्मा को किसने बनाया एक स्वाभाविक प्रश्न आता है उनके मन में क्योंकि वो जिन भी चीजों को देखते हैं वो बनी होती है या किसी के बनाई हुई होती है तो परमात्मा को किसने बनाया हम आत्मा है शरीर से बिना तो अच्छा आत्मा को किसने बनाया परमात्मा कब उत्पन्न हुआ परमात्मा कब से है क्योंकि जितनी चीजें हम देखते हैं उनकी कुछ दिनांक तारीख समय काल होता है कि भाई ये अब से है इसका समय ये है उससे पहले नहीं थी ये तो बोले परमात्मा कब से है आत्मा कब से है ये प्रश्न सहजता से आता है और चूंकि व्यवहार में हम सब ऐसा ही देखते हैं जो उत्पन्न होती भी हैं उनका कहीं प्रारंभ है कब से है ये कुछ संकेत है ये सुनते पढ़ते समझते देखते करते करते ये हमारा मानस बन जाता है ये इस अनादि तत्व को न समझ में आने के का कारण है आखिर क्यों नहीं समझ में आ रहा है अनादि शब्द तो अब ये विचार करते हैं कि क्या कोई वस्तु अनादि हो सकती है या होनी चाहिए तो हमारे पास दो रास्ते हैं एक तो हम सब वस्तुओं को सादी मान लें और दूसरा पक्ष है कि कुछ वस्तुओं को अनादि माने कुछ को सादी माने जो उत्पन्न होती हुई दिखती है और कुछ को अनादि माने ये दो रास्ते हैं हमारे पास में यदि हम इस पक्ष को लेते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं सादी हैं कौन सा सिद्धांत कौन सा सिद्धांत अभ्युपगम सिद्धांत अभ्युपगम से स्वीकार करके चल रहे मान लीजिए सब वस्तुएं सादी हैं अनादि कोई हो ही नहीं सकती अब इसमें तर्क करेंगे कुछ जो वस्तु सादी होती है यानी उत्पन्न होती है वो किसी चीज से बनती है उसका कोई उपादान कारण होता है ठीक है जैसे अब ये ये क्या व्याप्ति आई ना इसमें जो चीज उत्पन्न होती है उसका कोई ना कोई उपादान कारण होता है मेटेरियल कॉज होता है ये व्यक्ति हो गई ये तर्क हो गया ये न्याय की तरह से थोड़ा समझने के लिए नहीं तो बिना इसके बोले भी काम चलता ही है जैसे रोटी बनी है रोटी आटे से बनी है आटा भी बना है किसी चीज से गेहूं से बना है गेहूं भी बना है तो वो भी किसी चीज से बना है किससे बना है पौधे से बना है या तो जमीन से कुछ लिया है सूर्य से कुछ लिया है विभिन्न चीजों को लेकर के बनाए ये मकान बनाए किससे बनाए मिट्टी बजरी सीमेंट इत्यादि से बनाए ईटों से ये भी किसी से बनी है जो जो चीज बनी हुई है कपड़ा आदि कुछ भी वो किसी न किसी उपादान कारण से बनी है ठीक है ये उसको समझ में आएगा बात व्यवहारिक दृष्टि से जो प्रश्न करते हैं उनके लिए अब प्रश्न आएगा कि ये जिससे बनी है जो मेटेरियल कॉज है उपादान कारण है वो किससे बना होगा चलिए वो भी किसी से बना होगा और वो उसका भी जो कारण है कारण का भी जो कारण है वो किससे बना होगा अभी ये मान के चल रहे हैं कि हर चीज उत्पन्न होती है क्या मान के चल रहे हैं हर चीज उत्पन्न होती है यानी शादी होती है जो जो चीज उत्पन्न होती है वो किसी न किसी उपादान कारण से बनती है ये भी दो बात हो गई श्रीवास्तव जी तो उत्पन्न वस्तु का जो कारण है वो भी उत्पन्न हुआ होगा इस सिद्धांत में किससे उत्पन्न हुआ होगा उसका भी कोई ना कोई उपादान कारण होगा मेटीरियल चाहिए तो वो है तो वो भी उत्पन्न हुआ होगा इस सिद्धांत में ऐसे पीछे पीछे पीछे पीछे कितने भी चले जाइए जितनी भी वस्तु जिसको भी हम कारण मानेंगे वो उत्पन्न हुआ हुआ मानना पड़ेगा इस सिद्धांत में क्योंकि जो भी वस्तु है वो उत्पन्न हुई है सादी है और यदि उसको उत्पन्न हुआ हुआ मानेंगे तो वो किसी न किसी मेटेरियल कॉज से बना होगा उसका भी कोई कारण मानना होगा अनिवार्य रूप से तो ये कहां तक जाएगा कहा कोई समाप्ति है इसकी जहां भी कहेंगे नहीं ये इससे बना है तो अंतिम जो चीज होगी वो भी बनी होगी और उसका भी कोई ना कोई कारण होगा और वो कारण कोई होगा तो वो भी फिर किसी से बना होगा अर्थात इसकी समाप्ति हम कहीं नहीं कर सकते अतार्किक रूप से स्थिति बनेगी इस मान्यता को मान करके हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते इस मान्यता का की पुष्टि हम नहीं कर सकते हमें कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा हम यू कहेंगे नहीं उसका वो उसका वो उसका वो कहा आखिर वो कहे कि कोई क्या बोलेंगे इससे पहले वो उससे पहले वो उससे पहले वो कब से कब से को अभी छोड़ो कौन सी वस्तु है वो कहीं नहीं कह सकते इसको दर्शनों में एक दोष माना गया है अनवस्था दोष कहीं अवस्था नहीं है कहीं टिक ही नहीं रहे स्थिति ही नहीं बन रही है कि यहां जाकर के हम टिक जाएं कहीं नहीं टिक सकते चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा अनुत्तरित रहेंगे हम ये अनवस्था दोष कहलाता है यदि हम इस पक्ष को लेकर के चले तो और यदि हम कहें कि नहीं करते करते करते करते करते करते कहीं भी रुक गए तो अगर रुक गए तो वो जो वस्तु है उसको क्या मानेंगे अनादि मानेंगे या सादी मानेंगे जहां रुके यदि रुकते हैं तो वैसे तो रुक नहीं सकता वो इस सिद्धांत में नहीं रुकेगा तो अनवस्था दोष और यदि रुक गया तो जिस जगह रुका यहां नहीं वहां और नहीं वहां वहां नहीं वहां पारंपरिय भी आप परंपरा पर मानते भी जाओ तो भी परिनिष्ठा समाप्ति निष्ठा तो कहीं ना कहीं आएगी माननी पड़ेगी और जहां रुक गए उसको अनादि मानना पड़ेगा कि ये किसी और से नहीं बनाए ये सदा से है ये हमें अवश्य मानना पड़ेगा ये सांख्य दर्शन में कुछ सूत्र है वो प्रक्रिया है कि हम प्रकृति को मूल ना माने इस कार्य जगत का मूल कोई कहे नहीं प्रकृति नहीं है कोई और है ठीक है अच्छा और मान लो उससे पीछे और उससे पीछे और कहीं तो रुकोगे जहां रुकोगे जो आदि का है यानी सबसे पहले से विद्यमान है अनादि है बस वही प्रकृति है वही मूल है और वो जो मूल होता है वो कैसा होता है अमूल होता है डेरी वाला अमूल ले अमूल का दूध आता है आता है <laughs> अमूल की बहुत सारी चीजें आती तो सांख्यकार ने एक सूत्र दिया मूले मूला भावात अमूलम मूलम विचित्र सूत्र है अलंकार भी है इसमें मूल अमूल ये शब्द चलता है मूल में मूल का अभाव होता है मूल का मतलब कारण जो अंतिम कारण है उसका कोई कारण नहीं होता उसमें कारण का अभाव होता है उसका कोई कारण नहीं होता है इसलिए जो मूल है कारण है आदि कारण है वो अमूल होता है बिना कारण वाला होता है एक बहुत बड़ा सिद्धांत प्रस्तुत किया दर्शनों में कहीं ना कहीं परिनिष्ठा समाप्ति माननी पड़ेगी जिसकी उत्पत्ति कभी नहीं होती है और ये बात केवल दर्शन ही नहीं भारतीय दर्शन ही नहीं औरों में भी विज्ञान में भी ये मानना होता है कि कोई ना कोई बेसिक मेटेरियल रूट अवश्य होगा जो उत्पन्न नहीं हुआ विज्ञान भी नहीं नकारता इस बात को यदि इस परंपरा में ये इससे उत्पन्न हुआ ये उससे उत्पन्न हुआ कोई ये कहने लगे कि नहीं जो पहला था वो बस वैसे ही उत्पन्न हो गया उसका कोई कारण नहीं था अभी तो हम क्या मान के चल रहे थे जो भी वस्तु उत्पन्न हुई है उसका कोई उपादान कारण अवश्य होता है तो इस परंपरा में दोष आने लगा कि ये तो अनवस्था दोष आएगा तो कोई ऐसा कह दे कि नहीं बस ये तो वैसे ही उत्पन्न हो गई शून्य से उत्पन्न हो गई अभाव से उत्पन्न हो गई कह सकता है कोई क्योंकि उस समस्या से बचना है नहीं संयोग से उत्पन्न हुई है वो एक अलग से दृष्टि है तो संयोग तो दो वस्तुओं का होगा किसी न किसी का है को इंसिडेंस मतलब आकस्मिक वैसे ही हाँ नहीं कोइंसिडेंस में उत्पन्न हुई तो शून्य से उत्पन्न हुई अभाव से उत्पन्न हुई या किसी चीज से उत्पन्न हुई यदि वो कहेंगे कि किसी चीज से उत्पन्न हुई तब तो वही अनवस्था वाला दोष बना रहेगा ठीक है और कोई कारण नहीं है बिना कारण के संयोग से वैसे ही उत्पन्न हो गई लेकिन किसी से उत्पन्न हुई है तब तो वही पहले वाली बात है अनवस्था दोष रहेगा यदि कोई ऐसा पक्ष ले लेता है ये तो अभाव से उत्पन्न हो गया तो वैदिक दर्शन और भारतीय दर्शन और पाश्चात्य भी विज्ञान भी वो इस बात को नहीं मानते कि शून्य से कुछ उत्पन्न हो सकता है होता ही नहीं है अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है उसके पीछे फिर अपना सोच है उसके लिए तर्क वितर्क हम कर सकते हैं और साथ में दूसरा सिद्धांत भी है कि जो भाव है उसका अभाव पूर्ण समाप्ति शून्य होना यह भी कभी नहीं होता रूप परिवर्तित होते हैं बदलते हैं ये आधुनिक विज्ञान भी मानता है और भारतीय दर्शन भी मानता है और ये बड़े अटल सिद्धांत हैं जो कि कभी खंडित नहीं होते सर्वतंत्र सिद्धांत हैं ये कोई ना मानता हो वो खंडित होगा लेकिन ये खंडित नहीं है सिद्धांत अर्थात जब हम ये मानते हैं कि अनादि तो कुछ भी नहीं है सब शादी है तो दो ही स्थितियां बनती हैं या तो हम अनवस्था दोष में जाके पढ़ेंगे या हमको ये मानना पड़ेगा अभाव से भाव की उत्पत्ति हुई है कुछ नहीं था जो कुछ नहीं था तो उसके तो आदि और अनादि का तो कथन बनेगा ही नहीं कुछ हो तब तो सादी अनादि प्रयोग किया जाए ये दोनों बड़े दोष आ जाते हैं यदि हम ये माने कि हर वस्तु सादी है और दूसरा पक्ष कि ये वस्तुएं बनी हैं तो ये किसी कारण से बनी है उपादान कारण से बनी है वो उससे वो उससे उससे कहीं ना कहीं जाकर के निष्ठा समाप्ति मूल हमारे को मानना पड़ेगा जो मूल तत्व है जो किसी से ना बना जो मूल कण है वो मानने पड़ेंगे आज भी विज्ञान तो स्वर्ण में प्रयोग कर रहा है कि आखिर मूल तत्व है क्या इस खोज में लगे अर्थात वो ये मान के चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ मूल कण अवश्य है उनकी जो परिकल्पना है उनकी जो खोज की का आधार है वो क्या मान के चले क्या अभ्युपगम से माना है उन्होंने कुछ ना कुछ मूल तत्व तो है जो कि आदि है आदि मतलब प्रारंभ है जिससे प्रारंभ होता है इस रूप में आदि है वो किसी से नहीं बना है तो जितनी भी वस्तुएं बनी हैं वो तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ कितना भी सूक्ष्म करते जाओ करते जाओ एक क्षण ऐसा आएगा जिससे ज्यादा उसका विभाजन नहीं किया जा सकता जितनी भी चीजें बनती हैं वो अनेक अवयवों से बनती हैं और तर्क करते हैं इसी तरह कुछ भी बनाए कागज बनाए इसको हम कहते हैं ये बना है तो ये अनेक अवयवों से बनाए अनेक टुकड़े खंड है इसके कोई भी वस्तु जो जो भी बनती है वो अनेक अवयवों से मिलती है बनती है इसलिए कार्य द्रव्य की द्रव्य की परिभाषा में उन्होंने कहा था अनेक द्रव्य वाला होता है अनेक उसके घटक उपादान कारण होते हैं कण होते हैं तोड़ते तोड़ते तोड़ते कितना भी जितना संभव है कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जाकर के एक स्थिति ऐसी आएगी जो अविभाज्य कण होगा जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते असंभव है होते ही नहीं है बस वो चीज अनादि होगी नित्य होगी वो प्रकृति के मूल कण है ये भारतीय दर्शन या वैदिक सिद्धांत ये मानता है दूसरा कोई दूसरा नाम दे सकता है कुछ और प्रक्रिया से चला जाए लेकिन कहीं ना कहीं वो मानना ही पड़ेगा मूल कण को तो ऐसा जो कण वस्तु होता है वही अनादि होता है ये अभी प्रकृति और कार्य जगत को लेकर के बात कही है केवल अर्थात हमें अनादि को मानना पड़ेगा बिना अनादि को माने हमारा काम नहीं चल सकता कार्य जगत में यानी अनादि का अस्तित्व तो है ये हमारी तर्क युक्ति से आएगा और कोई रास्ता ही नहीं है अब दूसरी बात आती है कि आत्मा और परमात्मा आत्मा और परमात्मा अवयव रहित हैं इसमें हमारा बहुत कुछ शब्द प्रमाणी काम करता है वो बने नहीं है किसी चीज से बने नहीं है यदि आत्मा और परमात्मा भी उत्पन्न हुए होते ऐसा मान करके अब तर्क करते हैं तो इनका भी कोई ना कोई उपादान कारण होना चाहिए क्या है वो यदि है यदि ये उत्पन्न हुए तो इनका उपादान कारण क्या है ऐसे बात नहीं बनी नहीं इनका भी कोई ना कोई तो उपादान कारण होगा कुछ भी मान लेंगे कैसे मान लेंगे कुछ आधार तो हो कुछ प्रमाण तो हो कि हाँ इससे ये आत्मा या परमात्मा बने हैं किसी के कहने से थोड़ा माना जाएगा तो आपने कह दिया आपका कहना क्या प्रमाण है नहीं मान लेंगे हम ऐसा मान ले तो क्या हर्जा है मान लेंगे हर्जा कुछ भी नहीं है मान भी लेंगे लेकिन वो पहले बात सिद्ध तो हो माने कैसे किससे बने हैं आप थोड़ा बताइए अगर आप ये कह रहे हैं कि ये किसी और से बने हैं तो किससे बने हैं वो बताइए दूसरा अन्य चीजों में हम बहुत परिवर्तन देखते हैं लेकिन बचपन में जो मैं था मैं की अनुभूति थी वही मैं की अनुभूति युवावस्था में भी है वही मैं की अनुभूति वृद्धावस्था में भी है हाँ मैं बाल बच्चा था युवा था वृद्ध हो गया हूं स्वस्थ हूं रुग्ण हूं इत्यादि जो बातें हैं ये बाह्य कारणों से हैं लेकिन जो मैं की अनुभूति है अंदर वो तो एक ही जैसी रहती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है इस तरह हम कुछ तर्क कर सकते हैं कि वो अपरिवर्तनशील है वो सदा वैसा का वैसा विद्यमान है और इन चीजों में फिर शब्द प्रमाण का भी हमें सहारा लेना होता है यदि हम ये माने कि ये उत्पन्न हुए हैं तो अच्छा इनको उत्पन्न किसने किया फिर अपने आप हो गए तो कैसे हो गए अपने आप क्या प्रयोजन है क्यों उत्पन्न हो गए ये इनका यही स्वभाव क्यों बन गया कितनी सारी आत्माएं हैं उन सबका ये स्वभाव क्यों बन गया बीसियों प्रश्न अनुत्तरित वहां पर रहेंगे कोई समाधान नहीं आएगा यहां भी हमें इन्हें नित्य मानना होता है ये इनका स्वभाव ही है आत्मा परमात्मा का स्वभाव ही है फिर तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये चेतन तत्व भी इसी तरह बना है जैसे कि जड़ जगत बना है भी कैसे बना बोले शरीर आत्म बुद्धि इंद्रिय परमाणुओं का ऐसा संयोग हुआ उसमें चेतनता उत्पन्न हो गई चेतन तत्व जो है वो भी इन जड़ वस्तुओं के मिलने से बन गया तो जिस चेतन तत्व का भी उपादान कारण कौन माना जाएगा जड़ वस्तुएं ही मानी जाएंगी जैसे कि मीठा गन्ने का रस और ये चीजें होती हैं अंगूर का रस इसमें नशा नहीं होता है लेकिन मिला के कुछ देर रख दो कुछ दिन रख दो तो उसमें किणवन हो जाता है आसव अरिष्ट बन जाते हैं उसमें मद्य बन जाता है और वो नशा पैदा करने लग जाता है ऐसे ही ये प्रकृति के कण मिले और इस तरह से मिले कि उसमें चेतना बन गई उसके लिए भी ये भी विषय सांख्य के दर्शन के अंदर आता है कहा कि जड़ वस्तु से कभी चेतन नहीं बन सकता नहीं बन सकती चेतना नहीं उत्पन्न हो सकती हाँ जड़ के मिलने से बहुत सारे उनके गुणधर्म तो बदलते हैं वो तो होता है लेकिन जड़ से चेतन कभी नहीं बन सकता बनता ही नहीं है जो ना समझ है जिसमें ज्ञान नहीं है जो अनुभूति नहीं करता है उससे अनुभूति करने वाला कोई नहीं बन सकता कोई उदाहरण नहीं मिल सकता तो इसलिए आत्मा और परमात्मा को भी न उत्पन्न होने वाला सदा से रहने वाला मानना होता है और न उत्पन्न होने वाला है सदा से रहने वाला है तो वो अनादि होगा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सादी मानने वाले पक्ष में बहुत से दोष आएंगे प्रश्न रहेंगे उलझने रहेंगे ये अनादि मानने वाला तथ्य अन्य बहुत सारी बातों से संगत होता है युक्ति संगत है सब विज्ञान से भी दर्शन से भी और हमारे व्यवहारों की व्याख्या इस संसार की व्याख्या हम अनादि तत्वों को मान करके ही कर सकते हैं ठीक ढंग से नहीं तो व्याख्या हो ही नहीं सकती इसकी इन सब दृष्टियों से देखते हैं तो अनादि तत्व को हमें न स्वीकार होते हुए भी मानना होता है मोटे तौर पे स्वीकार नहीं होगा लेकिन समझ करके किया है तो एकदम से स्वीकार होगा कि अनादि तो मानना ही पड़ेगा बिना अनादि के चल ही नहीं सकता कितना भी बच लीजिए आप इधर उधर उधर सबको शादी मानने वाले पक्ष को चलते रहिए अटक जाएंगे कहीं ना कहीं जाके कहीं कभी कहीं अटकेंगे कभी कहीं अटकेंगे ये अनादि का विचार है क्यों अनादि मानना होता है अनादि को कैसे समझें तर्क युक्ति आदि से शब्द प्रमाण तो है ही लेकिन जो समझ में नहीं आता है उसका कारण तर्क युक्ति आदि कम होते हैं उनका ज्ञान नहीं होता है तो ये समझ करके हम इनको अनादि मान सकते हैं इस विषय में अब किसी को पूछना हो तो पूछिए श्रीवास्तव जी समय का तो ये इसी तरह से समय का जब वो उत्पन्न ही नहीं हुआ कभी किसी का काल तो हम समय सीमा आयु कब निर्धारित करते हैं ये जब से बना है जब वो बना ही नहीं है तो हम किस काल से कहें कि इस काल से ये है बिना बने इस काल से है तो बोले उससे पहले क्या स्थिति थी और अगर हम कहेंगे ये इस काल से है तो मतलब उत्पत्ति को हम स्वीकार कर जाते हैं फिर जब उत्पत्ति स्वीकार नहीं कर रहे तो उसके साथ काल भी नहीं जोड़ सकते कि ये इस समय से है हमारे आपके जन्मदिन है क्योंकि हमारा हम उत्पन्न हुए हैं उसने जो मतलब मुश्किल होता है समझने का उस समय का कि कहीं कोई कोई शुभा भी जब वो उत्पन्न ही नहीं होगा यही हमें पकड़ना पड़ेगा जब वो उत्पन्न ही नहीं हुआ तो उसके साथ काल हम कैसे जोड़ सकते हैं जहां जहां काल जोड़ेंगे वहां उसकी उत्पत्ति से प्रारंभ मानेंगे और उत्पत्ति होती नहीं है ये हमने अभी चर्चाएं में देखा कहीं ना कहीं तो अनुत्पत्ति माननी पड़ेगी और अनुत्पत्ति मानी है तो काल उसके साथ जुड़ नहीं सकता तो इसलिए हम कहते हैं ये वस्तु कब से है अनादि काल से है क्यों क्योंकि इसकी उत्पत्ति नहीं है उत्पत्ति होती तो काल हो सकता था तो काल की दृष्टि से उत्पत्ति की दृष्टि से दोनों बातें इसी से जुड़ी हुई है ओके स्वामी जी

मिट्टी से पौधा बना पौधा फिर बड़ा हुआ गला और फिर मिट्टी में मिल गया तो यानी चक्र चल रहा है हम्म। स्वामी जी अनवस्था दोष हटाने के लिए एक बात रख रहे <laughs> कि इसका कारण वो उसका कारण वो उसका कारण वो हम श्रृंखला यूं यूं यूं चला रहे हैं बोले उसको नहीं उसको जोड़ दो यू जैसे कड़ा होता है या फीता होता है फीते को यूं फैला करके रखोगे तो किनारे दिखाई देंगे उसके दोनों तरफ और जोड़ दिया तो ये वो और वो फिर वापस वही चक्कर घूमते रहो इधर <laughs> तो अनवस्था दोष को हटाने के लिए स्वामी जी कह रहे हैं कि उसका कारण वो उसका वो परस्पर एक दूसरे के कारण मान लिए जाएं तो सब उत्पन्न भी हो रहे हैं इसलिए शादी भी है और कोई मूल अनादि तत्व मानने की आवश्यकता नहीं है ऐसा ही आपका कहना है लेकिन इस कहने में आपने ये बात भी कही कि ये सब किससे बन रहे हैं जल और पृथ्वी से ये भी बोल रहे हैं ना ये मूल चीज है उससे बन करके फिर उसी में चल रहे हैं इनमें मूल प्रारंभ कहां से हुआ दो प्रक्रियाएं हैं एक है निर्माण की और एक है ध्वंस की ध्वंस होकर के वो वापस वहीं पर आता है कहां पर जहां से चला था ये तो इस प्रक्रिया में भी है जो मूल तत्व था अनादि प्रकृति उससे ये कार्य जगत बना सृष्टि निर्माण में और जब प्रलय हुआ तो उल्टा होते होते होते कहां तक पहुंचा फिर मूल तक पहुंचा फिर वहां से बनना शुरू हुआ ये जो उल्टा लौटना है इसके लिए एक शब्द प्रचलित है प्रति प्रसव एक तो होता है प्रसव उत्पत्ति इससे ये बना इससे ये बना ये ये कहलाता है प्रसव सृष्टि का निर्माण और उल्टा निर्माण यानी प्रति प्रसव गच्छति आगछति या प्रत्यागछति प्रति मतलब वापस उस तरह लौटने की दृष्टि से है गच्छति गच्छति मतलब जाता है और आगच्छति वहां से यहां आता है प्रत्यागछति यहां से वहां जाके वापस वहीं आता है ये प्रत्यागछति होता है ना जो लौट के आ रहा है उसको हम सामान्यतः कह देते हैं आगछति आगछ प्रत्यागछति जहां से चले यहां से चल के वहां गए और जाके वापस लौट करके आए इस लौट के आने को आगच्छति नहीं बोलते आगछति तो होता है वो चीज वहां है ये यहाँ है वो वहां से चल के यहाँ आया ये आगच्छति होता है और यदि यहां से चल के गया और जा करके लौट के आ रहा है तो उसको संस्कृत में बोलते हैं प्रत्यागछति लौट के आ रहा है वापस तो प्रसव प्रति प्रसव शब्द है उसका उसका जो विखंडन होता है प्रलय होता है तब वो वापस वहां आता है चक्र तो यहां पर भी है स्वामी जी लेकिन कहीं कोई मूल तत्व इसमें हमें देखना होता है कोई चीज ऐसी है जो अनुत्पन्न है उत्पन्न हो रही है चीजें और जो प्रतिप्रसव है उसमें ये नहीं कहा जाता है कि इससे ये चीज बन रही है ध्यान देना लकड़ी से मिट्टी बन रही है ये नहीं कहा जाता है लकड़ी मिट्टी में मिल गई लकड़ी मिट्टी बन गई कौन प्रयोग है लकड़ी से मिट्टी बनी है नहीं ये सब जानते हैं आप भी जानते हैं जो इस कथन को कर रहा है वो भी जानता है कि मिट्टी से ये बने हैं अब ये वापस मिट्टी बन गया है ये नहीं कहते कि इससे लकड़ी से मिट्टी बनती है ये कोई वचन बोलता है नहीं बोलता है ये शरीर पंच महाभूतों से मिट्टी से बना और मरने के बाद मिट्टी में मिल जाएगा ये मिट्टी बन जाएगा मिट्टी बन जाएगा ये कहते हुए भी कोई ये नहीं मानता कि मिट्टी की उत्पत्ति कैसे हुई है शरीर से हुई है ऐसा कोई बोलता है ऐसा कोई स्वीकार करता है कभी नहीं कभी नहीं है ये शब्दों का प्रयोग है कि शरीर से मिट्टी, शरीर मिट्टी में मिल गया या मिट्टी बन गया फिर भी ये कोई नहीं कहता कि मिट्टी शरीर से बनती है ये शरीर मिट्टी से बनता है ये तो कह देंगे तो वो जो आप कह रहे हो उसमें भी दोष तो रहेंगे वहां नहीं है उस तरह वहां भी मूल चीज तो माननी पड़ती है हम्म, और किन्हीं को कुछ स्वामी जी क्या हाँ इसमें हाइड्रोजन नहीं सूर्य में दो तरफा प्रक्रिया नहीं होती है एक तरफा ही प्रक्रिया होती है जिसको परमाणु संलयन बोलते हैं एक परमाणु का विखंडन होता है जैसे कि परमाणु बम आदि बनते हैं इसमें विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है वहां संलयन से होती है यानी दो हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर के एक हीलियम का परमाणु बनता है और उसमें अतिरिक्त ऊर्जा निकलती है मात्र यही प्रक्रिया चल रही है वहां पर हीलियम से फिर हाइड्रोजन बनता है मेरी जानकारी में तो ये बिल्कुल नहीं है वहां सूर्य में ये प्रक्रिया नहीं चल रही केवल संलयन हो रहा है संलयन हो रहा है संलयन हो रहा है समाप्त हो तो हो जाएगी कौन मना करता है विज्ञान भी मानता है समाप्त होगी एक दिन हम भी मानते हैं वैदिक धर्म भी मानता है एक दिन समाप्त होगी हाँ इसमें ध्यान देना है कि हाइड्रोजन समाप्त तो होगी तब उसमें सनलाइन समाप्त हो जाएगा ये हम सामान्य रूप से हमारी समझ है कोई कोयला लकड़ी समाप्त हो जाएगी तो अग्नि नहीं होगी लेकिन सूर्य में जितना हाइड्रोजन है मेरे को कोई पूरा तथ्य पता नहीं लेकिन उसमें जितनी हाइड्रोजन है दस या चालीस प्रतिशत का मेरे को ध्यान आ रहा है इतनी खत्म होने के बाद में ये संलयन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी चली नहीं पाएगी हाइड्रोजन तो है वहां पर हाइड्रोजन तो रहेगी लेकिन संलयन की स्थिति ही नहीं रहेगी वहां इतनी अधिक हाइड्रोजन है वहां पर लगभग आधी आयु वो बीत चुकी है उसकी आधे से थोड़ा कम हुआ है मध्य काल है अभी इसका मध्य से थोड़ा पूर्व काल है हमारी दृष्टि से भी हमारी सृष्टि रचना में संकल्प पाठ की दृष्टि से भी और आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है अभी और इतने काल तक ये सूर्य ऊर्जा दे सकता है तब तक देगा और फिर समाप्त होगी तो होगी कौन मना करता है ये कोई दोष नहीं है कि ये तो समाप्त हो जाएगी हाँ, होगी बिल्कुल होगी तभी तो प्रलय की अवस्था आवश्यकता पड़ती है तभी तो ईश्वर उसको प्रक्रिया को करता है सृष्टि में जो प्रक्रियाएं चलती हैं वो एक तरफा चलती जाती हैं संलयन हो रहा है तो संलयन होता चला जाएगा जब तक कि कोई विशेष प्रयास करके उसको पलटे नहीं वैसा चलता जाता है चलता जाता है तो वहां विखंडन की प्रक्रिया हीलियम के परमाणु विखंडित होकर हाइड्रोजन बने ये मेरी जानकारी में तो ये नहीं है बिल्कुल ऐसा ऐसा नहीं है बिल्कुल वो बनेगा ये अलग बात है हीलियम बनकर के भी जब और चीजें बनती हैं आगे के लिए कार्बन है आयरन है और ये जो और चीजें बन, तत्व बनने लगते हैं वो प्रक्रिया चलेगी वो तो और मिल मिल करके जो भी बनना है आखिर तो वहीं से ही ये सारी चीजें बनती हैं ये अभी तक की परिकल्पना के आधार पर ये मान्यता है छिहत्तर प्रतिशत हाइड्रोजन है सूर्य में सूर्य में पूरे ब्रह्मांड में पूरे ब्रह्मांड में इतनी अधिक हाइड्रोजन है वो सूर्य आदि में अधिक है यहां भी है इतना पानी है यहां पर हाइड्रोजन है जितना पानी है उसमें कितनी हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है ये सब चीजें मूल तत्व है हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन ठीक है चलो रसायन तंत्र में अभी नहीं जाते और जाता है हाँ, और किन्हीं को कौन पूछ रहा था रामदेव जी तो तो अनवस्था को कि नहीं वो तो इसका वो उसका वो उसका वो इसका कोई आदि नहीं है यानी कुछ ना कुछ तो अनादि मानना पड़ गया अनवस्था को अनादि माना उनकी भावना तो ये थी कि नहीं कोई भी चीज अनादि नहीं होती <laughs> उसको अनादि मानोगे तो कुछ ना कुछ तो अनादि मानना ही पड़ गया ना आपको उस पक्ष में आपका वो प्रतिज्ञा तो नहीं रही कि कुछ भी अनादि नहीं होता हाँ शक्ति नहीं अगर इस प्रकार की चर्चा चल रही हो हमने ऐसे कहा कि भाई अनावस्था दोष आ रहे इसलिए तो प्रतिपक्षी यूं कहेगा कि भाई हमारे समझ में नहीं आ रही है इसलिए हम ठीक है अनादिमान ठीक है अभी तो शादी को ठीक है चल रहा है इसको कह सकता है कि अभी तो वो अनादि है अभी हमें समझ में नहीं आ रहा और जब समझ में आएगा तब क्या होगा जब समझ में आएगा तब क्या <laughs> संभावना लग रही है आपको तब क्या होगा तब उसका कोई आदि बता पाएंगे हम वो तो अभी निश्चित नहीं। निश्चित तो नहीं है तो जब या तो वो कह रहा है मेरे को कुछ भी पता नहीं है निश्चित नहीं है तो भाई ठीक है आप इस विषय में जब आपको खुद का निश्चित नहीं है दूसरा कोई निश्चित बता रहा है तो आप उसका खंडन कैसे कर रहे हो अभी आपका खुद का ही निश्चित नहीं है और कहिए जी अभी हमारे को अनवस्था लग रही है आगे हमें पता लग जाएगा तो क्या हो जाएगा हम अवस्था बता सकेंगे व्यवस्था और व्यवस्था क्या हो सकती है आदि मानना पड़ेगा मतलब अनादि मानना पड़ेगा कोई ना कोई चीज यहां से प्रारंभ हुई है मानना पड़ेगा उसको अनादि मानना पड़ेगा तो फिर तो वो तो अनादि मान ही रहे ना जिस दिन समझ में आएगा उस दिन अनवस्था दोष हटा के किसी न किसी जगह आरंभ मानना पड़ेगा और वो तत्व अनादि होगा बोलो तो ये एक अलग प्रश्न है इस पर और कभी चर्चा करेंगे इनका कहना था उस बात पे है इनका कि जड़ से जड़ तो उत्पन्न नहीं होता लेकिन चेतन से चेतन तो उत्पन्न हो सकता है ठीक है वो जो तर्क दिया था कि भाई इन सबके मिश्रण से चेतन उत्पन्न नहीं होता जड़ से चेतन उत्पन्न नहीं होता ये जो कथन किया था उस पर ये बोल रहे हैं कि चेतन से तो चेतन हो सकता है जैसे परमात्मा चेतन है और उससे चेतन आत्मा उत्पन्न हो गई इसके लिए अलग से चर्चा करेंगे हम्म, वैदिक सिद्धांत क्या है कि आत्मा वो भी उत्पन्न नहीं होता है ये पक्ष की चेतन परमात्मा से आत्मा उत्पन्न हो गई हो सकती है या नहीं हो सकती है आगे चर्चा कर लेंगे या तो कल चर्चा कर लेंगे इस पर भी तर्क वितर्क जो भी है दोनों पक्षों के आप भी सोच के आइए हाँ, अभी जो और अनादि वाली बात थी किसी को पूछना कश्यप जी आकाश इतना बड़ा जो रूपवान आकाश है बोलो आगे ये अपने वाक्यों में फंसेंगे मैं अभी से बोल रहा हूं बोलो ये जो इतना रूपवान इतना बड़ा आकाश है जब ये नहीं रहेगा तो मूल प्रकृति कहाँ रहेगी इनका अधिकरण ये वाक्य बोला इसके आधार पे ये क्या मान रहे हैं कहा नहीं है इन्होंने कहा नहीं है लेकिन क्या मान क्या मान के चल रहे हैं एक बात जो एकदम आएगी है एक एक एक एक बोलो आकाश को अनादि मान रहे हैं ऐसा नहीं कहा देखो ध्यान देना इन्होंने कहा ये जो इतना रूपवान आकाश है जब ये नहीं रहेगा जो व्यक्ति ये बोल रहा है जब ये नहीं रहेगा तो ये ऐसे कैसे कह सकते हैं इसको अनादि मान रहे हैं ये तो नष्ट होने वाला मान रहे हैं नहीं रहेगा यदि हाँ, नहीं रहेगा तो आपने थोड़ी देर के लिए तो उस सिद्धांत को माना ना अगर आप ये मानते हो कि ये आकाश तो सदा रहेगा अगर आपका ये सिद्धांत है तो ये प्रश्न ही नहीं बनेगा कि यदि नहीं रहेगा तो तो आप ऐसा बोलते ये चीज है तो मैं ऐसा बोल रहा कि ये नहीं रहेगा आप जो नहीं मानते ऐसा ये तो रहेगा ये रहेगा हाँ। तो प्रश्न क्या है आपका बनाने का से याद है इनका तो मैं आपकी बात लेता हूं आप ये जो कहना चाह रहे हैं आपने अभिव्यक्ति आपका अभिप्राय मैं अब समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं तो आपको शब्द कुछ और बोलने चाहिए यदि आकाश को अनादि न माने तो ये कहां रहते हैं फिर ये तीन तत्व जो तीन अनादि तत्व हैं इनके रहने के लिए कोई स्थान तो चाहिए यदि अनादि आकाश को नहीं मानेंगे तो ये तीन कहाँ रहते हैं या कहाँ रहेंगे ये पूछना चाह रहे हो ना आप तो अब वो वो नहीं यदि अनादि आकाश रूपवान आकाश नहीं रहेगा इसमें तो क्या आ रहा है कि जिस दिन वो समाप्त हो जाएगा तब ये कहा रहेंगे आप मैंने जो कथन किया था या जो वैदिक धर्म मानता है आर्य समाज मानता है उस पर आप प्रश्न कर रहे हैं तो इस ढंग से करना चाहिए जैसे मैं कह रहा हूं त्रैत्वर प्रश्न है कि चौथा क्यों नहीं चौथा क्यों नहीं मूल प्रश्न इनका ये था पर अभी इनकी उस भाषा को अगर लें कि जिस दिन ये अनादि अरूपान आकाश नहीं रहेगा तो ये तीन कहां रहेंगे तो इसमें ये एक चीज क्या मान के चल रहे कहा नहीं है इन्होंने नहीं नहीं अनादि नहीं द्रव्य भी मान के चल रहे हैं द्रव्य भी मान के चल रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि ये तीनों चीजें बिना आकाश के नहीं रह सकते इनका जो मूल आधार है ना इस सारे कथन का बोला नहीं है इन्होंने लेकिन ये इनके वाक्य से पता लगता है इन तीनों के रहने के लिए आकाश आवश्यक है ये इनके मन में बैठा हुआ है ये ये मान करके ये वचन बोला इन्होंने अगर ये ना मानते होते कि इनके रहने के लिए आकाश नहीं आवश्यक है ऐसा होते तो इनका ये प्रश्न ही नहीं बन सकता था तो या तो उसके आधार पर ये प्रश्न बन रहा है तो उसको हम अधिकरण सिद्धांत माने जो एक पक्ष है अथवा इनके वाक्य से हमें पता लग जाता है कि ये इस बात को मान के कह रहे हैं तो उसमें आपसे प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसा क्यों मानते हो आप कि इनको रहने के लिए आकाश चाहिए स्थान होता है तो स्थान या आकाश कहीं कोई चीज हो वहां दूसरी रह रही है या कहीं कोई चीज नहीं है वहां ये रह रही है <laughs> इनका भाव कहा जाएगा आप देखो <laughs> ये जो कह रहे थे कोई वस्तु है तो भाई उसके लिए स्थान तो चाहिए स्थान मतलब रिक्त स्थान खाली स्थान खाली स्थान मतलब जहां कोई दूसरी चीज ना हो तो ये जो आकाश है ये तो अभावात्मक है आप जिस बात को कहना चाह रहे हो ना वो कोई वस्तु नहीं है कि वो कोई वस्तु है और वो रहने का स्थान दे रही है ऐसा नहीं और कुछ नहीं है वो रहने का स्थान दे रही है कुछ न होना ही आपके कथन के पीछे मूल आधार क्या है भी कोई वस्तु है तो वो वहां है तो कुछ न हो तभी तो वो वहां रह सकती है नहीं तो टकरा जाएगी तो जिस आकाश की बात कह रहे हो वो तो वस्तु ही नहीं है और ये इनके मन में कहीं सूक्ष्म रूप से था इनको पता नहीं हो इसलिए इन्होंने जो वाक्य बोला ना ये जो रूपवान आकाश दिखाई दे रहा है ये रूपवान शब्द इन्होंने क्यों बोला रूपवान क्यों बोला ये परोक्ष रूप से कहीं इनके मन में होगा कि भाई शून्य आकाश ना आ जाए ये रूपवान है रूपवान है तो फिर तो कोई सत्ता चीज ही हो सकती है <laughs> इनकी वाक्य रचना क्यों बन गई ऐसी रूपवान आकाश है जो ये दिखाई देता है इन्होंने सोचा हो या नहीं सोचा हो पता नहीं परोक्ष रूप से इनके मन में लेकिन ये आकाश शून्य है क्योंकि इसमें रूप नहीं है जिसको आप रूप कह रहे हो जिसको रूप मतलब जो आंख से दिखाई देता है हाँ। ये फिर व्याख्या बात है इसमें हम सोचेंगे कि ये जो दिखाई देता है ये नीला नीला तो ये जो हमें पत्थर दिखाई दे रहा है ये पत्थर दिखाई दे रहा है इसके बीच में क्या खालिस्तान जो दिखाई दे रहा है उसके नाम आकाश है तो खालिस्तान जो दिखाई दे रहा है वो आकाश अच्छा <laughs> तो आप नीले आकाश को नहीं कह रहे हो तो इसका क्या रूप है आपने कहा ये रूपवान आकाश दिखाई दे रहा है है जल का क्या नहीं ये तो आप मेरे से प्रति प्रश्न कर रहे हो <laughs> जल का क्या रूप है उसको छोड़ो अभी रूप ठीक है उस पर भी कुछ चर्चा कर सकते हैं भी जल का क्या रूप है लेकिन मैं तो पहले आपकी बात जानना चाहता हूं आप कह रहे हो कि ये रूपवान आकाश जो दिखाई देता है अब आपने हम तो सोच रहे थे भाई रूपवान मतलब ये नीला आकाश तो इनको लगा कि वहां तो फंस जाऊंगा मैं वहां तो नहीं तो ये जो दो जैसे छत और ये है इसके बीच में जो ये आकाश दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है रूपवान है तो उसका रूप क्या है वो पूछ रहा हूं मैं खाली स्थान का ज्ञान हो रहा है आपको नहीं नहीं नहीं नहीं खाली स्थान का ज्ञान हो रहा है ये बात तो ठीक है अब आप उसको न्याय दर्शन वाली वो बात याद रखो कि प्रत्यक्ष से इंद्रिया सन्निकट से या प्रत्यक्ष से सत का ज्ञान होता है या असत का भी ज्ञान होता है दोनों का होता है तो ये जो आप कह रहे हो इसके बीच में ये जो खाली स्थान है ये आप सत के रूप में जान देख रहे हो या असत का कुछ वो सत क्या है यही तो जानना है <laughs> ये तो आप असत के रूप में जान रहे हो कि भाई यहाँ कुछ नहीं है ये ये, ये है वो सत रूप में या असत रूप में वो सत रूप में है तो वो उसका क्या स्वरूप है, क्या है? ये रूप हो गया नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं देखो ये रूप है तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ ये रूप है ये सफेद है ये इतना ऐसा लंबा चौड़ा है ये कुछ हम कह सकते हैं इसको इसमें गुणों को देखते हैं ये जो खाली स्थान है इसमें हम किसी गुण को नहीं जो भी कहोगे आप अभाव के रूप में बोलोगे अभाव के रूप में बोलोगे यानी असत के रूप में व्याख्या करोगे आप इसकी जितनी व्याख्या करोगे ये असत के रूप में करोगे ज्ञान तो हो रहा है निसंदेह ज्ञान हो रहा है तो प्रमाणों से यानी प्रत्यक्ष से सत्य का भी ज्ञान होता है और असत का भी ज्ञान होता है यहां किसी के न होने का ज्ञान हो रहा है अब वैसे आपको यूं रोकना हो तो दूसरे तर्क भी कर सकते हैं आप कह रहे हो कि इसके बीच में कुछ नहीं है क्या कुछ भी नहीं है इसके बीच में जिसको आकाश कहते हैं ये जिसको आकाश कहते हैं वो नहीं जो दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है नहीं आकाश क्या दिखाई दे रहा है रूप उसकी कोई आप व्याख्या नहीं कर सकते और कुछ भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कुछ न होना और इसको दूसरे शब्दों में कहें किसी को रोकना हो तो वैसे ही अगर वो कर सकता है तो आगे चला सकता है आप कह रहे हो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो खाली स्थान है नहीं ये खाली नहीं है ये खाली नहीं है ये हवा से भरा हुआ है भले ही नहीं दिखाई देती हो खाली स्थान नहीं है आप मतलब हमें किसी को खंडन करना हो ना कि पकड़ना हो किसी को बात को तो विज्ञान के आधार पर पकड़ लेंगे वहां पर या आप इसको खाली कह रहे हो आपको नहीं पता हवा है आप ये बताओ हवा है या नहीं है यहाँ पर यहाँ प्रकाश है या नहीं है वो मना तो नहीं कर सकता वो कहेगा नहीं हवा तो है ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा ये हवा आकाश का गुण है या हवा एक द्रव्य है अभी आप परिकल्पना करते जाओगे अब ये जो सारी चल रही है ना ये क्या चल रही है बात <laughs> आपको हर जगह रुक जाना पड़ेगा आप कथन तो कर रहे हो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो वायु है ये आकाश का ही गुण है अगर आप ये कहने कह देते हो ये तो बड़ा आप एक मिनट रुको एक मिनट रुको ऐसे नहीं करना है अभी आप ये किसी स्थिति में चल रहे देखो कई बार होता है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए जो मन में आया वो बोलते चले जाओगे अभी जो सूझ रहा है वो बोलते चले जाओगे उसमें फंस जाओगे हर जगह फंसोगे हर जगह फंसोगे ऐसा नहीं करना सोच करके आपको खुद को भी स्वीकार होनी चाहिए कि हाँ ये चीज है केवल वाद में चलने ये ये किस रूप में आ जाता है अभी ये जल्प के अंदर आ जाएगा जल्प के अंदर आ जाएगा कि हम ये नहीं देख रहे जानबूझ के कुछ भी उत्तर देते चले जाएंगे कि मेरा पक्ष रहे उसके लिए ये ऐसे जल्प शुरू हो जाता है अगर ये भाव मन में हो कि नहीं मैं तो जो सत्य है उसको जानना है तो आप ये ऐसी ऐसी चीजें नहीं बोलोगे तो जो आकाश जिसमें ये सारी चीजें रहती हैं वो अभावात्मक है वो सत नहीं है वो असत है यहां जो अनादि तत्व की बात चल रही है वो कौन से सत्तात्मक पदार्थ तीन है ये तो असत है ये तो असत है कुछ का ना होना इसकी चर्चा और न्याय दर्शन में भी आएगी सत और असत भाव अभाव क्या है दूसरा वहां वैदिक विद्वत परिषद में भी ये चर्चा हुई थी आकाश की बात चली थी गोष्ठी का विषय था तो वास्तव में शून्य आकाश जैसी कोई चीज कहीं है क्या कहां पर है कोई ऐसी जगह बताओ ये जो अवकाश यानी शून्य आकाश जो है वो कहां पर है कहां पर है क्यों नहीं है वो कहे कि नहीं यहां पर भी है ना तो बोले यहां तो हवा है नहीं हवा के परमाणुओं के बीच में भी तो खाली जगह है भी हवा ठोस तो ना भरी भी है और परमाणुओं के बीच में भी तो खाली जगह है जहां इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं चारों तरफ वो पूरा परिपथ जो है उसका घेरा है वो भी तो खाली है तभी तो घूम रहे हैं वहां पर खाली स्थान है ना क्यों इस लोहे में भी खाली स्थान है ना मैं पूछ रहा था कि ऐसी कौन सी जगह है जहां खाली स्थान है तो हर जगह है यहां भी इसमें भी खाली स्थान है हवा में भी खाली स्थान है पानी में भी खाली स्थान है सब जगह खाली स्थान है है या नहीं है क्या वहां परमात्मा नहीं है है फिर खाली स्थान <laughs> प्रकृति नहीं है ये तो कह सकते हैं हम प्रकृति नहीं है ये तो कह सकते हैं और हम जो आकाश का व्यवहार करते हैं वो कैसा <laughs> कैसा करते हैं जब प्रकृति नहीं है जहां प्रकृति नहीं है उसको हम आकाश कहते हैं अवकाश कहते हैं आकाश मतलब भूत वाला आकाश नहीं अवकाश जहां प्रकृति नहीं है ये एक व्यवहार के लिए वैसे परमात्मा सब जगह है इसलिए वो जो शून्य कोई जगह हम ढूंढे अपने वैदिक सिद्धांत में तो कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां कुछ भी ना हो यानी परमात्मा भी ना हो ऐसा है ही नहीं ठीक है तो इतना रखते हैं बहुत हो गया अनादि तत्व का न समझना अनादि न अनादि न रहे अनादि का अंत नहीं हुआ अनादि के समझ न समझने का अंत अगर हो तो हाँ फिर भी ये थोड़े कुछ विषय ऐसे हैं जो जटिल होते हैं हमारी बुद्धि एकदम इन चीजों को स्वीकार नहीं कर पाती है बहुत से तर्क वितर्क युक्ति होते हुए भी लेकिन विचार करते करते करते एक स्थिति ऐसी बन जाती है कि हमें बिल्कुल स्वीकार्य हो जाता है पर हाँ जिनके लिए ये प्रारंभ है वो इस पर और विचार करेंगे महीनों सालों तो उनको ये बातें सब ठीक लगेंगी आगे चल करके और इसको विचारते विचारते कुछ प्रश्न उठेंगे कोई बात समझ में नहीं आएगी अड़चन आएगी उसको फिर पूछ सकते हैं एक दूसरे से और कर सकता है तो जाकर के निश्चितता को प्राप्त होगा लेकिन इसका समझना वैसे कठिन है अनादि चीज को समझना ये प्रारंभ में सरल नहीं होता है या तो कोई मान ले वैसे ही तो तो स्वीकार कर सकता है लेकिन अगर जो तर्क वितर्क करता है युक्ति से समझने की कोशिश करता है प्रमाणों से देखता है तो वो उसको एकदम स्वीकार नहीं होता है ठीक है इतना रखते हैं हम्म। जो ये जो बड़ा रूपवान आकाश दिख रहा है ऐसे निकला तो न्याय दर्शन के अंतर जो आकाश का गुण तो शब्द है रूपवान रूपवान है ही नहीं बिल्कुल कह सकते हैं वो शब्द प्रमाण के आधार पे पर ये कहीं ना कहीं रूप देख रहे हैं इसलिए इन्होंने रूप शब्द का प्रयोग किया इसको ये कह ही रहे थे ना ये रूप है ना ये ये इनके रूप होने का मतलब क्या था कि हमारे को दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है का मतलब इनका था ज्ञात हो रहा है हमारे को ये जो खाली स्थान ज्ञात हो रहा है आप जो इसको रूपवान कह रहे हो मतलब तो दिखाई देने वाला दिखाई देने वाला मतलब ज्ञान होने वाला उसका पता लग रहा है अनुभव में आ रहा है ये कहना चाह रहे हैं इसका बोध हो रहा है ये तो ठीक है बोध हो रहा है लेकिन इसको रूपवान नहीं कह सकते रूपवान शब्द एक विशेष है जिसका नेत्र से इंद्रियार्थ सन्निकर्षों के ज्ञान होता है लेकिन रूप का भी ज्ञान होता है और रूप के अभाव का ज्ञान भी इंद्रिय इंद्रिया इससे नेत्र से ही होता है ये बात न्याय दर्शन में आई गई और वो स्वीकार करनी भी होती है हमारे को अभी शब्द आ रहा है उसका ज्ञान भी कान से होता है और शब्द नहीं आ रहा है इसका ज्ञान भी कान से ही होता है तो वो अभावात्मक है असत रूप है ये भी उसी तरह से हमारे को समझना चाहिए ठीक है बाकी और विचार करना कोई किसी तरह का आग्रह नहीं होता है अपनी बातें रखी हैं आपके सामने आप तर्क वितर्क करके निश्चय पर पहुंच सकते हैं तो अच्छी बात है ठीक है और कोई सूचना